अम्मा बहरहाल हम दो सलाद के बाद हुआ मिना ग़रूब ज़मानियती हुआ की ज़मीर का मर्जा है बाद बाद बादो क्या है जरूर ज़मानी या में से ज़माने को बतलाता है अरे उसके बाद तो क्या है बाद ज़माने में तो पहले ये उसके बाद ये तो ज़माने का एतबार से हो गया आज़म आज़म हारून के बाद है यानी हारून का ज़माना पहले का है और आजम का ज़माना बाद का है तो देखो ये बाद जो आता है किसके लिए आता है जमाने के लिए आता है अरे अब तो समझ में आ गई होगी हुआ मेरा इस जमानी ये बादू हरूफ ज़मानिया के लिए हरूफ ज़मानिया में से अल मबनीयती जो मबनी है बादू जमने पर मबनी है इसकी तीन शक्लें हैं या तो इसका मुजाफ इले मजकूर होगा या इसका बादू का मुजाफ इले मजकूर होगा मजकूर होगा या महजूब होगा अगर महजूब होगा तो महजूब होने में फिर दो सूरतें हैं महजूब मनवी होगा या महजूब नसीम मंत्रिया होगा ठीक है फिर या तो मजबूर होगा या फिर महसूब होगा महसूब होगा तो दो से या तो मनवी होगा नियत के अंदर होगा कि यहाँ पर बाजू का मुजाफी लेके आए या फिर नसीम मनसिया होगा कि बिल्कुल यहाँ पर नियत के अंदर ही नहीं होगा यहाँ पर जो शक्ल है यहाँ शक्ल कौन सी है महजूफ है और मनवी है यहाँ पर है बादल हमदी और सलादी बहरहाल हमद सलाद के बाद ठीक अलमबनीय आगे अलमुनकती अनिल इजाफती जो इजाफत से मुनक़ है कटा हुआ है इसमें इजाफत लगी हुई साथ में नहीं मुजाफ इसका नियत में तो है बाद अलहमदलाती लेकिन इसके साथ नहीं है इससे हटा हुआ और कटा हुआ है है ना इससे मुनकत है ठीक महजूब है महजूब सही और फिर नियत के अंदर है अब इनका नियत के अंदर है का मतलब क्या यहाँ पर है बादल और सलाद अब इससे अगली बात क्या हमारे सामने तो नहीं है कटा हुआ है ना इससे मुनकते है उसी को बदला ले अल मुनफत आनिल इजाफती इजाफत से मुनफे है यानी इसके साथ जुड़ा हुआ बज़ाहिर नहीं है नियत में जुड़ा हुआ है बदला दो हमें क्या है वो मुदाफिल है ठीक है सुन लो देख लो आई बादल हमदी और सलाती यानी हमद सलाद के बाद मतलब इससे आसान किताब और कौन सी हो सकती है सारी बातें इन्होंने बदला दी मुख्तसर के नाम से लोग डरे वल आमिल फी अम्मा आमिल इसमें अम्मा है जो बादू इसको जो इसने जम्मा दिया है जो आमिल है अमल करने वाला आमिल किसको कहते हैं जो अपने बाद वाले को हराकत दिया करता है जराबा जईदन जेर पर जो रफा आया है वो क्यों आया है आमिल कौन है जराबा आमिल है जरबा ने अमल किया कि ये जेर साइल है साइल है इस वजह से क्या करो इसको रफा दे ठीक है तो यहाँ पर जो आमिर है वो है अम्मा इसने जो है इसको जम्मा दे दिया वल आमिल अम्मा और आमिल इसमें अम्मा है अब्बा नहीं है ठीक है लिनायाबतिहा लिनियाबतिहा अनिल पहली हाँ, उसके यानी किसके अम्मा के फेल के कायम मकाम होने की वजह से अम्मा के फेल के कायम मकाम होने की वजह से यह एक बात ये समझने की है कि जो अम्मा है देखो तो आमिल जो हुआ करता है वो क्या होता है हर आमिल नहीं बनता हर आमिल नहीं बनता इसम या फेल होगा वो आमिल बनेगा इसम या फेल होगा वो आमिल बनेगा हर आमिल नहीं बनता और यहाँ पर क्या है अम्मा और अम्मा हर है तो मालूम हुआ कि अम्मा आमिल नहीं होने चाहिए कहते हैं लिनयाब यहाँ अनिल फेल अम्मा के फेल के कायम मकाम होने की वजह कि अम्मा जो है जो आमिल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये असल फ़ैल के कायम मकाम है तो चूँकि फ़ैल के कायम मकाम है इस वजह से यहाँ पर इसको आमिल बनाना दुरुस्त हो जाएगा आई आई हाँ वो समझो गई नहीं आई क्या नहीं ना आई हो तो बताओ <laughs> अम्मा हर्फ है ना और हर्फ आमिल नहीं बनता हर्फ आमिल नहीं बनता इन्होंने इबारत ले इबारत लेकर आए लीन लीनियाबतिया आनिल फैली अम्मा के फैल के कायम मकाम होने की वजह यानी ये जो अम्मा है इसको जो हम आमिल बना रहे हैं बज़ाहिर तो, तो अम्मा आमिल दिख रहा है हर्फ आमिल दिख रहा है लेकिन ये है फैल के कायम मकाम तो फैल के कायम मकाम हुए तो गोया के ऐसा हो गया कि यहाँ पर असल है फ़ैल जो आमिल बन रहा है लेकिन नज़रों में आ रहा है हर जो अम्मा है ठीक है आगे हम्म। वल असल और असल क्या है महमा यकुम मिन इन बादल हमदी वसलाती तो जो भी हो जो कुछ भी हो ठीक है बादल हमदी वसलाती हमद सलाद के बाद अब आगे की बातें वो सब शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर है महमा यकुम बिन सैन तो यह महमा मुबतदा है और यकुन ये हरफ शर्त ये शर्त है आगे जो फिर जजा आएगी उस पर फादाखिल होगा उसके बारे में भी बताएंगे तो यह सिर्फ इतनी बात समझनी है कि असलियत अम्मा की क्या है महमा यकुम बिन सैन है तो यहाँ पर ये फ़ैल है और फ़ैल का मकाम यहाँ पर फैल है और फैल आमिल बनता है और अम्मा वो इसी फैल के क्या है कायम मकाम है तो मालूम हुआ कि अम्मा का आमिल बनना फैल के कायम मकाम होने की वजह से दुरुस्त और सही है महमायकुमिन बादल हमदी जो कुछ भी हो हम दो सलाद के बाद अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा बतलाते हैं वमा हा मुब तादा उन और महमा यहाँ मुबतदा है वल इसमियत मुबतदाई और इसमियत यानी इसम होना मुबतदा के लिए लाजिम है इसम होना मुबतदा के लिए लाजिम है मुबतदा इस मुबतदा जो होगा वो इसम ही होगा ठीक है तो महमा ये क्या हो जाएगा मुबतला और ये इसम भी है चलो आगे वायाकुन शर्त और यकुन शर्त है यकुन शर्त है और शर्त के लिए क्या लाजिम है का हाँ, लाजिम है इन तजहब तजहब तजहब अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा तो इन तजहब शर्त आई आगे क्या आएगा फाजहब तो मैं भी जाऊंगा तो फा जजाइया और इन तजहब ये क्या है शर्त और फा जजाइया इस पर जजा होने की वजह से दाखिल हुई इसी तरह यहाँ पर होता है अम्मा बादु फलम्मा देखो फा दाखिल हो गया ना इसलिए समझो पहले आगे बताऊंगा वल पाओ लाजिमतुल्लहु गालिबन और पा उसके लिए अमूमन लाजिम होती है किसके लिए शर्त शर्त की जो जजा होती है उस पर पा उमन आया करती है अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई बस उस वक्त अम्मा इब्तिदा और शर्त के माना को शामिल होगा अम्मा इब्तिदा और शर्त के माना को शामिल होगा महमा है मुबतदा ठीक है और इसमें मुबतदा के लिए लाजिम है तो महमा के कायम मकाम अम्मा आया ठीक है महमा की जगह अम्मा लेकर आए तो अम्मा के अंदर महमा के माना भी पैदा हो गए और महमा भी अम्मा के अंदर महना का भी अम्मा के अंदर महमा का भी शमूल हो गया यानी अम्मा महमा को शामिल है ठीक है और यकुन क्या है शर्त इसके कायम मकाम ही अम्मा को भी लेकर आए तो शर्त जो अम्मा है अम्मा के अंदर शर्त के माना भी आ गए शर्त के माना को भी ये शामिल हो गया एवदेदा हाँ। के माना को भी और शर्त के माना को भी दोनों के माना को अम्मा शामिल हो गया ठीक है न तवमनत अम्मा मानत इबिदा इव शर्ती बस उस वक्त अम्मा इबिदा इस वक्त है अम्मा इब्तदा और शर्त के माना को शामिल हो गया हाँ। व लजीमत हल फाऊ व इसमी को फा और इसम का मिलना लाजिम है लाजिम हो गया क्या कहते इकामत लाजिम मकाम मलजूमी व इफ़ान असर ही फिर जुमलती लाजिम को मलजूम के कायम मकाम करते हुए और उसके असर को बाकी रखने के लिए दे हुए कुछ न कुछ फिर जुमला किसी न किसी दर्जे में अम्मा के अंदर क्या माना है शर्त के माना भी है ठीक है जब शर्त के माना है शर्त है तो अब जो बाद में आएगा उस पर जजा पर फा दाखिल होनी चाहिए ठीक है लजिमत फाऊ उसको फा लाजिम तो जब शर्त है अम्मा शर्त है तो अब इसकी जजा पर फा आएगा दूसरों को इसमें और इसम का मिलना इसम का मिलना उनका लुसू क्योंकि अम्मा ये शर्त है अम्मा हर्फ है अम्मा हर्फ है और होने का चाहिए होने चाहिए क्योंकि मुबतदा बन रहा है और मुबतदा के लिए इसमियत लाजिम है लेकिन यहाँ पर हम इसम नहीं लाए हर्फ लेकर आए तो काम ये किया कि जो बादू है बादू इसम उस इसम को अम्मा के साथ में मिला दिया इसम को अम्मा के साथ में मिला दिया ताकि बादू इसम का कुछ ना कुछ असर कायम आ जाए अम्मा के अंदर आ जाए कुछ ना कुछ असर अम्मा के अंदर आ जाए और यहाँ पर अम्मा बहादुर कहना दुरुस्त हो वरना असल तो ये था कि अम्मा पाबादो होना चाहिए अम्मा तबादो होना चाहिए क्योंकि अम्मा क्या है शर्त माना का शामिल है ठीक है और शर्त के बाद में क्या आती है तो आती है तो अम्मा तबादो होना चाहिए लेकिन कहीं बड़ा खतीब को देखा हो सुनते हुए खतीब ने कभी कहा हो खुदे के अंदर सुन अम्मा फबादू अम्मा बादू ही कहते हैं है ना उसके बाद में सिर्फ फा आती है तो यहाँ जो फा खत्म की है ये फा इसलिए ख़त्म की इसम को मिलाने के लिए हर्फ के साथ ताकि जो ये हर्फ है अम्मा क्योंकि इसके लिए ये इब्तदा के माना को तो शामिल है है ना और मुबतदा के लिए इसमियत लाजिम है और ये खुद इसम नहीं है इसलिए इसम को इससे मिला दो ताकि इसके अंदर थोड़ा सा इसमियत का असर आ जाए इसमियत की बू पैदा हो जाए इसलिए देख बादू को इससे मिला दिया गया और फा को बादू के बाद में लगा दिया फलम माँ काना इलमुल कलाम अरे किसी के समझ में तो ना आ गई एकाध के हैं कोई तुमने ऐसा तो नहीं जिसके समझ में आ गई हो आई समझ में हाँ, अच्छी बात अल्लाह का शुक्र अदा करो लजिमत हल्फाऊ वसूकुल इसमी इसको फा लाजिम है ला फा लाजिम है किस लिए अरे शर्त है तो इसके लिए क्या जजा तो जजा पर पाया करती है और इसम का मिलना भी लाजिम है क्योंकि तो हर्फ है और इसम को जब इसमें मिला देंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इसम की वो आ जाएगी और इसका यहाँ पर हर्फ का लाना दुरुस्त हो जाएगा इकामत लाजिम मकाम मलजूमी वही लाजिम को मलजूम के कायम मकाम करते हुए करने के लिए लाजिम क्या है फा और मजलूम क्या है अरे लाजिम है फा और मजलूम इसको लाजिम किया गया जजा के लिए फा तो लाजिम है और मजलूम क्या है जिसकी वजह से ये लाजिम आया अरे अम्मा है ना और इसमियत लाजिम है किसको मुबतदा को ठीक है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लाजिम को मलजूम के कायम मकाम करते हुए और उसके असर को कुछ न कुछ किसी न किसी दर्जे में बाकी रखने के लिए रखते हुए यहाँ पर जो इसम ये अम्मा है अम्मा जब इसके साथ में इसम को मिलाया बहादुर को तो बहादुर को मिलाने की वजह से क्या वो पूरा इसम ही बन गया या इसम का कुछ ना कुछ असर आ गया कुछ ना कुछ असर ही तो आया इसम तो नहीं बन गया अम्मा अम्मा तो हर ही है लेकिन जब बादू को मिला दिया बीच में से फा को हटा दिया तो अब इसके मिलने की वजह से कुछ ना कुछ असर आ गया तो उसी को कह रहे हैं वही काल असर ही फिल उसके असर को बात रखते हुए रखने के लिए फिर जुमला कुछ न कुछ जुमले में नहीं कुछ ना कुछ यानी थोड़ा सा ठीक है देखिए जरा देखो तुम देखो इतना मारो फिर इतने पर नजर मारो